परम पिता परमात्मा का स्मरण अत्यंत पवित्र पूर्ण शुद्ध परमात्मा प्रणव धनी ओ सज्जनों धार्मिकों को श्रेष्ठ मनुष्यों को आर्यों को परमात्मा का स्वरूप किस प्रकार समझना चाहिए और उसे समझ के किस प्रकार से संबोधित करना चाहिए परमात्मा के स्वरूप को जान करके स्वीकार करके और फिर उसी तरह से उसको संबोधित करना चाहिए वो किस किस प्रकार से हो सकता है उसकी क्या व्यापकता है तो महर्षि दयानंद ने आर्य अभिविनय के प्रथम प्रकाश में प्रथम मंत्र का व्याख्यान करने से पूर्व परमात्मा को बहुत सारे संबोधनों से संबोधित किया है तो पिछला एक संबोधन हम कल देख चुके थे हे सच्चिदानंदानंत स्वरूप दूसरा संबोधन उन्होंने दिया हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हे परमात्मा आप नित्य स्वभाव वाले हैं आप शुद्ध स्वभाव वाले हैं आप बुद्ध स्वभाव वाले हैं और मुक्त स्वभाव वाले हैं नित्य का अर्थ है जो सदा से विद्यमान है काल की दृष्टि से जो पहले भी था आज भी है और भविष्य में भी रहेगा शुद्ध का अर्थ है जो मलिनता से दोषों से रहित हो पवित्र हो बुद्ध का अर्थ है जो जानने वाला है जो सब जानता है जान चुका है और मुक्त का मतलब है जो किसी की आसक्ति से रहित है स्वयं अपने आप में पृथक प्रकृति के बंधन से रहित अन्य किसी के लगाव से रहित अकेला अपने आप में स्वतंत्र मुक्त ये सब परमात्मा के स्वभाव कहे उसका अपना स्वरूप है ये स्वभावतः सदा से उसमें है ये चीजें किसी निमित्त से परमात्मा में नहीं आई है उत्पन्न नहीं हुई है तो परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है परमात्मा के चार गुण कहे और वो चारों गुण स्वभावतः उसमें है नैमित्तिक नहीं है इस संबोधन का एक दूसरे ढंग से भी अर्थ किया जाता है नित्य शब्द को जो प्रथम में है उसको आगे के शब्दों के साथ जोड़ करके फिर देखते हैं पहले हमने किया था स्वभाव शब्द को प्रारंभ के चारों शब्दों के साथ जोड़ा था स्वभाव शब्द अंत में पढ़ा हुआ है नित्य स्वभाव शुद्ध स्वभाव बुद्ध स्वभाव और मुक्त स्वभाव अब इसमें नित्य शब्द को भी बागे के तीन शब्दों के साथ में जोड़ते हुए फिर स्वभाव शब्द को जोड़ेंगे नित्य शुद्ध स्वभाव नित्य बुद्ध स्वभाव और नित्य मुक्त स्वभाव परमात्मा शुद्ध स्वभाव वाला है कि नित्य शुद्ध स्वभाव वाला है बुद्ध स्वभाव वाला है नित्य बुद्ध स्वभाव वाला है मुक्त स्वभाव वाला है नित्य मुक्त स्वभाव वाला है परमात्मा के ये चार गुण नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त इनका सामान्यतः अर्थ हम जानते हैं लेकिन परमात्मा को जब हम इन शब्दों से संबोधित करते हैं तो अर्थ की भावना क्या होनी चाहिए जप का मतलब है अर्थ की भावना तपस तदर्थ भावनम महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में कहा अर्थ की भावना अर्थात वो शब्द वो जप जिस वस्तु के लिए किया जा रहा है उस वस्तु का अर्थ का उस शब्द के तात्पर्य का भाव हमारे मन में रहना चाहिए तो जब परमात्मा को हम नित्य स्वभाव कहते हैं संबोधित करते हैं तो एक अर्थ की भावना हमने बनाई कि परमात्मा सदा रहने वाला है समाप्त कभी नहीं होता न उत्पन्न हुआ है न समाप्त होगा ये हमने नित्य अर्थ की भावना की और ये नित्यता परमात्मा की अपनी है नित्यता परमात्मा में विद्यमान है यहां तक अर्थ की भावना यदि की जाए तो वो उतना लाभ नहीं दे पाती ये ठीक है कि परमात्मा नित्य स्वभाव है अब अगर इसके आगे हम जो भाव बनाएंगे जो हम चिंतन करें कि परमात्मा की नित्यता का अंतर क्या पड़ रहा है परमात्मा को पिछले संबोधन में आनंद स्वरूप कहा परमात्मा से हमें आनंद मिलेगा मिल सकता है अब परमात्मा नित्य हो या अनित्य हो इससे कोई अंतर पड़ेगा परमात्मा के जो विशेष गुण हैं आनंद ज्ञान न्यायकारिता जिनसे हमें लाभ मिलता है जो हमारे से संबंधित हैं उनको तो हम अलग ढंग से देखते हैं कि परमात्मा न्यायकारी है तो तत्काल हम अपने साथ में जोड़ेंगे कि परमात्मा मेरे साथ भी न्याय करेगा मेरे शुभ कर्मों का भी फल देगा और मेरे जो दुष्कर्म है उनका दंड भी मेरे को सुधार के लिए देगा परमात्मा न्यायकारी है हम उसको अपने साथ में जोड़ते हैं एक होता है उस वस्तु के अर्थ का स्मरण परमात्मा न्यायकारी है परमात्मा आनंद स्वरूप है लेकिन इससे अगला चरण है अपने साथ उसको जोड़ के देखना ये वस्तु सुखदाई है तो हम अपने साथ तत्काल जोड़ते हैं अर्थात इससे मुझे सुख मिल सकता है ये वस्तु ये उपकरण इस कार्य में सहयोगी है तो हम तत्काल अपने साथ में संबंध जोड़ते हैं कि जब मेरे को इस इस कार्य की आवश्यकता होगी तो ये काम आएगा और जिस वस्तु के गुणधर्म हम जान तो लेते हैं लेकिन हमारे साथ में उसका कोई संबंध नहीं है तो हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे उससे संबंध नहीं बनाएंगे उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे मान लीजिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक रॉकेट को छोड़ते हैं रॉकेट को छोड़ने के लिए कुछ आधार बनाते हैं व्यवस्था करते हैं उसके कोई कितने भी गुण बताते हैं हमारे को ये ऐसी व्यवस्था इससे ये लाभ होता है लेकिन हमें यदि ये पता है कि मुझे कभी रॉकेट नहीं छोड़ना है मेरी सामर्थ्य नहीं है और मेरी मेरे लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है मेरे जीवन में ये कभी काम में नहीं आने वाला है तो भले ही हम उसके कितने भी गुण सुन लें पढ़ लें हम उससे उपयोग को लेकर के कोई आगे का व्यवहार या भाव नहीं बनाएंगे ये दो अलग बातें हैं किसी वस्तु के गुण धर्मों को समझना जानना और दूसरा उसके गुणधर्मों को जान के अपने साथ में उसका संबंध लेन देन देखना समझना परमात्मा आनंद स्वरूप है और हमारे से संबंध हम नहीं जोड़ पाते हैं तो कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन हम आनंद को सुख को अपने साथ जोड़ते ही हैं जैसे हम भौतिक वस्तुओं के लिए जोड़ते हैं किसी को भी कहा जाए कि ये व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है ये मिठाई बहुत अच्छी है पुष्टिकारक है तो अगले ही चरण में हमारे मन में क्या भाव आएगा मैं भी इसे प्राप्त करूं मैं भी इसे खाऊं मैं भी इसको खा करके शरीर को पुष्ट करूं स्वस्थ हूं ज्ञान प्राप्त होने के बाद अगला चरण इच्छा में आएगा यदि वो वस्तु लाभदायक है और यदि कोई वस्तु हानिकारक है तो अनिच्छा में आएगा अप्रीति में आएगा हम उसकी कामना नहीं करेंगे उसको हटाना चाहेंगे और किसी वस्तु के गुण जान भी लिए लेकिन हम अपने साथ में उसकी कोई उपयोगिता नहीं देख पा रहे हैं तो उसके गुण धर्म जानते हुए भी हम उसकी इच्छा नहीं करेंगे हम छोड़ देते हैं उस इच्छा को तो परमात्मा के जो आनंद ज्ञान आदि गुण हैं उनसे तो हम अपना संबंध प्राय बना लेते हैं जो धार्मिक है समझदार है वो बनाता है लेकिन परमात्मा के नित्य गुण का हमारे से क्या संबंध है उसके नित्य होने से हमारे पे क्या फर्क पड़ता है और आत्मा स्वयं अपने आप में नित्य है ही परमात्मा आनंद स्वरूप है और हमारे में आनंद नहीं है तो हम परमात्मा का आनंद पाना चाहते हैं परमात्मा ज्ञानवान है हमारे में ज्ञान नहीं है तो हम परमात्मा का ज्ञान पाना चाहते हैं इच्छा उत्पन्न होगी प्रयत्न होगा लेकिन परमात्मा नित्य है ये संबोधन करने की आवश्यकता क्या है परमात्मा नित्य हो या अनित्य हो उससे हमें क्या लेना देना हम स्वयं नित्य हैं तो परमात्मा की नित्यता सीधे सीधे कुछ ली नहीं जा सकती लेकिन परमात्मा की नित्यता अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है हमें परमात्मा को नित्य समझना चाहिए परमात्मा को नित्य समझने से बहुत बड़ा अंतर आता है परमात्मा को अनित्य समझने से बहुत बड़ा अंतर आता है उदाहरण के लिए लौकिक दृष्टि से व्यवहार में किसी व्यक्ति को नौकरी पे रखा यदि वो एक दिन की है तो उसका अलग भाव रहेगा जो व्यक्ति प्रतिदिन मजदूरी लेता है दिहाड़ी पे जाता है उसको तो एक दिन की मिलती है उसमें भी प्रसन्न होता है लेकिन अगले दिन क्या होगा इसका विचार उसका चिंतन चिंता उसको रहती है ऐसे में यदि कोई कहे कि मेरे पास सात दिन लगातार काम है एक महीने लगातार काम है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है और यदि कोई कहे उसको कि मेरे पास दस साल तक का काम है आपकी साठ वर्ष तक की आयु का काम है जैसे कि नौकरी लगती है पक्की नौकरी स्थिर नौकरी उसको हम कहते हैं आजीवन नौकरी लग गई आजीवन मतलब जितनी साठ पैंसठ साल तक होती है वहां तक और उसके बाद भी हमारे को सहयोग मिलता रहेगा पेंशन मिलती रहेगी इत्यादि बोध यदि किसी व्यक्ति को हो तो वो धन के संबंध में खाने पीने के संबंध में सामान्य जीवन को जीने की व्यवस्था के संबंध में एक निश्चित भाव में चला जाता है यदि नौकरी करने वाले को पता हो कि अगले दिन मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो एक अलग स्थिति होती है मन पर एक तनाव होता है एक दबाव होता है अनिश्चितता होती है और यदि एक महीने साल भर और कुछ वर्षों की निश्चितता हो जाए आजीवन निश्चितता हो जाए तो एकदम अंतर आ जाता है और इस अंतर के आने से मानसिक स्थिति के बदलने से हमारे अन्य व्यवहारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है जो व्यक्ति एक दिन के लिए नौकरी पाता है वो बार बार सोचेगा कल क्या होगा उसके लिए अलग से प्रयास करेगा और जिसकी नौकरी स्थिर है उसको इस विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है वो अन्य दिशाओं में सोचेगा अन्य दिशाओं में प्रयत्न करेगा यही बात अन्य वस्तुओं के लिए ले सकते हैं हमने कुआ खोदा या हैंडपंप खोदा उसमें एक दिन पानी आया उसके लिए इतनी मेहनत की तो एक अलग भाव होगा इसमें पानी साल भर रहता है तो एक अलग भाव होगा इसमें हम पानी निकालते जाएं और दो चार साल बाद में समाप्त तो हो जाएगा तो एक अलग भाव होगा और इसका पानी तो टूटेगा ही नहीं जिंदगी भर तो एक अलग भाव होगा ऐसा ही संसार की अन्य वस्तुओं क्रियाओं के संदर्भ में हमारे पर प्रभाव पड़ता है किराए का मकान लिया आजकल एक साल ग्यारह महीने का ही करते हैं ज्यादा नहीं करते समस्याएं होती हैं ये जो बड़े बड़े शहरों में मुंबई जैसे शहरों में जो रहते हैं उनको देखिए कितनी समस्या उनको रखती है हर 11 महीने में एक साल होने से पहले उनको मकान बदलना होता है नया समझौता करना होता है नया एग्रीमेंट करना होता है नया किराया बढ़ाया जाता है जैसे ही पांच छह महीने होते हैं उनको अगली चिंता फिर शुरू होती है मकान मालिक बदलवाएगा फिर मकान ढूंढो फिर सामान बदलो कितनी अनिश्चितता कितना भय आशंका आगे पता नहीं होगा नहीं होगा विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए यदि प्रकृति का कोई नियम स्थिर है सदा रहने वाला है तो अनेक उपकरण बन जाएंगे यहां भी वही काम करेगा वहां भी वही काम करेगा आज भी उसी तरह काम करेगा परसों भी उसी तरह काम करेगा वैज्ञानिक यदि किसी यंत्र को बनाता है तो ये जान के मनाता बनाता है कि ये नियम काम कर रहे हैं और सदा रहेंगे उस आधार पर बनाता है और वो चलते रहते हैं और इस आधार पर ही ग्राहक भी उसको खरीदता है नियम बदलते नहीं है जल का गिरना गुरुत्वाकर्षण का होना किसी वस्तु का बहना किसी वस्तु का निश्चित ताप पर पिघलना किसी वस्तु का निश्चित ताप पर वाष्पित होना इत्यादि ये नियम निश्चित हैं इसलिए बहुत सारी वैज्ञानिक खोज हो जाती है बहुत सारे यंत्र बन जाते हैं और एक निश्चितता का भाव है और इसको पलट के देख लीजिए यदि वैज्ञानिक को पता हो कि आज जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है वाष्पित हो रहा है कल को नब्बे पे हो जाएगा और कभी डेढ़ सौ पे चला जाएगा तो एक छोटा सा थर्मामीटर बनाया कि इतने तापमान पर पारा इतना फैलता है एक निश्चित तापमान पर निश्चित फैलता है तो उससे वो नली में ऊपर जाता है और निश्चित तापमान हमको पता लग जाता है और यदि इसमें अनिश्चय हो कि पारा कभी इतने तापमान पर अधिक फैलता हो और इतने ही तापमान पर कभी कम फैलता हो तो यदि ऐसे में थर्मामीटर बना भी लिया जाए तो उसकी क्या प्रामाणिकता है और कौन उपयोग लेगा बन ही नहीं सकता ये जितना विज्ञान और चीजें हैं ये निश्चितता पर चल रही है ये नियम है ऐसा ही है तो हमारे जीवन में जितनी वस्तुएं व्यवहार क्रियाएं मनुष्य आते हैं उनके व्यवहार इत्यादि की नित्यता अनित्यता का हमारे पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है किसी संस्था में गए आज वहां के ये नियम है पांच सात दिन में फिर फिर बदल दिया नहीं अब ये होगा फिर तो एक महीने बाद में हो गया नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा नियम बार बार बदले जा रहे हो देखिए हमें कैसा प्रतीत होगा हम नहीं चाहेंगे एक कोई नियम निश्चित हो गया हमने उसके साथ सामंजस्य कर लिया और फिर अनावश्यक कोई यू ही नियमों को बदलता रहे हमें बाधा होती है किसी व्यक्ति का व्यवहार घर परिवार में जिनके भी साथ हम रहते हैं उनका एक व्यवहार हमें पता है उसके अनुसार हमने कुछ सामंजस्य किया अगर वो अपना व्यवहार बदलता रहे कभी किसी चीज में प्रसन्न हो जाए कभी उसी चीज में अप्रसन्न भी हो जाए क्रोधित हो जाए तो कैसे व्यवहार करेंगे बाधाएं होंगी खाने पीने का व्यवहार पत्नी को पता है पति किस किस स्वभाव वाला है तो पहले से बना के रखती है ऐसे ऐसे लगभग उसको पता है कि इस इस स्वभाव वाले हैं इतना नमक इतना तेल इत्यादि चीजें इतनी मिर्च और यदि उसमें बहुत परिवर्तन होता रहे तो सहजता नहीं रहती तो जहां निश्चितता है समानता है वहां दूसरों को अनुकूलन में बहुत सुविधा रहती है अब परमात्मा नित्य है ये भाव हमारे मन में आया काल की दृष्टि से परमात्मा नित्य है सदा रहने वाला है तो परमात्मा के जितने गुण धर्म हैं वो सब नित्य हैं वो भी नित्य ही रहने वाले हैं इस संबोधन का जो दूसरे ढंग से अर्थ किया था नित्य शुद्ध स्वभाव नित्य बुद्ध स्वभाव नित्य मुक्त स्वभाव परमात्मा के समस्त गुणों के साथ में हम नित्यता को जोड़ दें परमात्मा आनंद स्वरूप है तो नित्य आनंद स्वरूप है ये केवल इस जन्म के लिए नहीं सदा के लिए परमात्मा न्यायकारी है तो नित्य न्यायकारी है सदा के लिए न्यायकारी है परमात्मा के जो विधि विधान हैं वेद में जो विधि विधान कहे हैं वो सदा ऐसे ही रहने वाले हैं मात्र इस जन्म में मात्र इस पृथ्वी पर नहीं सर्वत्र सदा विभिन्न जन्मों में एक ही नियम काम करेगा अब हम निश्चित रूप से परमात्मा के नियमों पर चल सकते हैं एक निश्चिंतता होगी कि इसी नियम पे चलने से उद्धार है तो सदा इसी से ही होने वाला है पहले भी ऐसा ही था आज भी ऐसा ही है परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग इस इस तरीके से है अपने को पवित्र करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा को प्राप्त करके ही हम समस्त दुखों से दूर हो सकते हैं परमात्मा की कृपा को पा करके हम जीवन में सर्वाधिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा के नियमों के अनुसार चलने में ही हमारा कल्याण है इन सब चीजों में जब हम नित्यता देखते हैं तो उसमें जो दृढ़ता होती है वो इनको अनित्य समझते हुए कभी नहीं हो सकती जिसको ये निश्चय हो गया है कि ये ऐसा ही रहने वाला है नित्य ही है परमात्मा का अस्तित्व नित्य है परमात्मा के गुण धर्म सारे नित्य हैं तो बिल्कुल अलग दृष्टि बनेगी बिल्कुल अलग तरह से व्यक्ति व्यवहार करेगा परमात्मा के विधि विधानों को मानने में और परमात्मा की प्राप्ति के प्रयास में तो यद्यपि परमात्मा का नित्य गुण सीधे सीधे हमारे को मिलने वाला नहीं है वैसे भी हम नित्य हैं और अनित्य होते भी तो भी परमात्मा की नित्यता हमारे में आकर के हमको नित्य नहीं बना सकती थी क्योंकि जो वस्तु नित्य है वो नित्य ही रहती है और जो अनित्य है वो अनित्य ही रहती है इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता लेकिन इसके बाद भी परमात्मा की नित्यता हमारे मन में जब बैठ जाए जब हम परमात्मा को नित्य स्वभाव वाला बोले और ये भाव भी बन जाए कि परमात्मा सदा रहने वाला है इसके साथ साथ ये और बातें जो कि जुड़ी हुई हैं और जो कि आवश्यक हैं अपने साथ में जोड़ करके परमात्मा के अन्य गुण धर्मों के साथ में जोड़ करके अब ये एक अलग अर्थ की भावना है परमात्मा का जप अर्थ की भावना से ही होता है शब्द का अपने आप में अधिक महत्व नहीं है शब्द तो हमें केवल उस अर्थ तक पहुंचाता है उस भावना तक पहुंचाता है उस वस्तु के स्वरूप को समझाने में हमें सहायता करता है अपने पे संस्कार डालने में सहायता करता है लेकिन उस भाव को अनुभव करना उस भाव को समझना उस भाव को अपने साथ जोड़ना यदि ये हम साथ में करते हैं तो अर्थ की भावना संपूर्ण होती है और तब ये तजपस्त तदर्थ भावनम परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होता है बहुत शीघ्रता से परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला बनता है और इसी को दूसरे शब्दों में वहां योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान की तरह भी कहा और ईश्वर प्रणिधान का एक स्वरूप उस तरह से प्रस्तुत किया गया और उससे शीघ्र समाधि की प्राप्ति का वर्णन किया गया तो परमात्मा नित्य है ये संबोधन जो महर्षि ने दिया है अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ रखता है बाकी बहुत सारे गुणधर्म महर्षि ने कहे हैं उन पर एक एक करके हम विचार करेंगे तो आज केवल इतना रखते हैं मन के अंदर परमात्मा को नित्य स्वीकार करते हुए उस तरह की भावना रखेंगे जैसा कि महर्षि दयानंद का अभिप्राय रहा होगा ये भाव आर्यों में श्रेष्ठों में धार्मिकों में होना चाहिए इसके बाद में हमें परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना करनी है नित्य भाव रख करके जब हम स्तुति करेंगे परमात्मा के प्रति नित्य भाव रखते हुए जब हम प्रार्थना करेंगे तो एक अलग तरह की स्तुति निकलेगी एक अलग तरह की प्रार्थना होगी ओम का उच्चारण ओ